प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता मनोमे वासी प्रतिष्ठिता अपेक्षता इमेन लोका लोकपालना में सृजई ये लोग तो बन गए अम्बस मरिची मर माप माने चार प्रकार से चौदह भवन की सृष्टि हो गई आगे लोकपालना में सृजय लोगों की रक्षा करने के लिए लोकपाल देवताओं की सृष्टि करते हैं इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं उनकी सृष्टि की तैयारी ऐसे कहा स अद्य एवं पुरुषम समुद्र के अमृतसर कहा स मैंने परमात्मा ने तो क्या किया जल प्रधान जो पंचभूत है पंचभूतों से ही एक पिंड निकाला निकाल करके उसको अवयव से युक्त कर दिया एक शरीर के आधार में जिसको विराट शब्द से कहा जाता है ऐसा है त्रिलोका अभिमानी को विराट बोलते हैं ऐसा एक बना दिया ऐसा कहा टीका में कहते हैं अत्र आत्मा वही उक्त आत्मज्ञान है न संसारी विवक्षित इस उपनिषद का तात्पर्य क्या है जो संसारी को मुक्त करना है जीव को मुक्त करना है जो संसारी कर्ता भोक्ता पना में बैठा हुआ है इसको ना हम कर्ता ना हम भोक्ता में पहुंचाना है उपनिषद का तात्पर्य अत्र इस उपनिषद में आत्मा वही यहां से आरंभ किया था शुरू में देखो एक आत्मा ही था बाकी कुछ नहीं था तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि कहां से आए हैं ये संसारी कैसे बना है संसारी क्यों बनता है वो निमित्त दिखाना चाहते हैं हमारे नहीं तो आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त तो था ही नहीं तो संसारी कैसे बना है उसके लिए औपाधि का संसारी बनाए दिखाना है ये दिखाने अत्र इस उपनिषद में आत्मा वही यदि उक्त आत्मज्ञान है ना आत्मा वही इदमग्रे आशीर एक एकम एवं नान्य किंचन मिशन इत्यादि आत्मज्ञान के द्वारा संसारी गोचई पृथक जो संसारी जीवात्मा बन करके घूम रहा है क्यों जीवा जीवत तो कैसे मान लिया इसने इसका निमित्त क्या है ये सारी बातों को बताना है ये संसारी बने को हटाना है अगर वास्तविक हो तो हटेगा नहीं औपाधिक हो तो हट जाएगा ये जो संसारी बना औपाधिक है सिद्ध करना इसके लिए उपाधियां क्या क्या है वो दिखाना चाहते हैं असंसारी लोग मोक्ष अनुपत्य है असंसारी लोग मोक्षानुपत्य कहते हैं <clears throat> असंसारी के लिए मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है वो तो मुक्त ही है पहले से उसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं शुद्ध आत्मा को मुक्त नहीं करना है जिसने संसारी पना मान लिया है मैं संसारी हूं मैं जीव हूं कर्ता भोक्ता हूं अमुक का पुत्र हूं अमुक के पौत्र हूं इत्यादि भावना में है उसी को मुक्त करना है जो वास्तव में असंसारी आत्मा है उसको मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है असंसारी लोग मोक्ष अनुपत्ति जो संसारी बना हुआ है उसी को मुक्त करना है जो असंसारी है शुद्ध आत्मा है उसको मुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं वो तो मुक्त ही है इसलिए संसार संसार क्या चीज है कहते छह मिला हुआ पुंज को संसार बोलते हैं छह वस्तु दिखाएंगे संसार संसार संसरण अधिकरण लोकान जो प्रमाता बनकर के सूक्ष्म शरीर के साथ में घूमेगा यही चौदह भुवन में घूमता रहेगा ये लोक संसार है चौदह भुवन जो चौदह भुवन अस्थिरता तो आ आया था चौदह भुवन है ये संस, एक संसार ये है मैंने छह मिलकर के संसार होता है लोक होगा मान्यता आ गई तो कहा संसार यही है संसरणाधिकरण लोकहान तो संसार संसार यही होता है संसरण का अधिकरण जो घूमना है जीवात्मा को परमात्मा बन करके घूमना है जीवात्मा बन करके घूमना है कर्तृत्व भोक्तृत्व मान करके यहाँ कर्म करना वहां जाके फल भोगना ये घूमना हो रहा है इसका संसार का जो अधिकरण है गमन का अधिकरण का लोक लोका संसार इनके बिना नहीं होता बोलना चाहते संसार से न भवती इनके बिना संसार नहीं हो सकता है बोलते हैं लोक के बिना तद उपाधि भूतम लिंग शरीर तद उपाधि भूतम टिप्पणी संसार उपाधि भूतम संसार जिसकी उपाधि है लिंग शरीर का जब तक संसार है लिंग शरीर रहेगा लिंग शरीर जब तक है संसार है ये सारे लोगों की मान्यता जब तक है तब तक लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है तो वो संसार उपाधि वाला लिंग शरीर क्यों आत्मनि संसाराध्यास निमित्त भूतम आत्मा में संसार के अध्यास का निमित्त लिंग शरीर ही होता है लिंग शरीर में तादात में इसका है मन आदि में तादात में होने से वो मन आदि के धर्म को आत्मा में ला करके अपने को संसारी मान वास्तव में में करने वाला लिंग शरीर होता है किंतु उसका धर्म को आत्मा अपने में मानता है तादात्म्य के कारण इसलिए संसारी बना है आप वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है औपाधिक है संसारी को ये कहना चाहते हैं टिप्पणी में कहा आत्मनि संसार अध्यास भूतम आत्मा में संसार के अध्यास आरोप का निमित्त है लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर तादात्म्य है आत्मा का इसलिए उसका धर्म को अपने में आरोप करता है संसरण करता है सूक्ष्म शरीर किंतु आत्मा में आरोप होता है ध्यायती में लेला आई तो कहा हुआ है जाता हुआ जैसा जाते हुए तो मन जाता है लगता है आत्मा चला गया ऐसा ये कहते हैं भाष्य में संसार मान संसारी को मुक्त करना यहां तात्पर्य है माने संसारी पना जिसने मान लिया है मैं जीव हूं मुझे साधना करके मुक्त होना है जिसकी भावना ऐसी बनी है उसको मुक्त करना है वास्तव में मैं असंसारी आत्मा हूं भावना में गया उसको मुक्त करने आवश्यकता नहीं है असंसारी लोग मोक्ष अनुपत्ते एक टीका मिला असंसारी को तो मुक्त मोक्ष की आवश्यकता नहीं वो तो मुक्त ही है वहां तो बद्ध भी नहीं मुक्त भी नहीं ऐसी स्थिति में संसार संसार ये छह के बिना संसार नहीं होता बोलते छह वस्तु गिनाते हैं संसार के लिए संसाराधिकरण लोकान जो घूमना है चौदह भवन में घूमना है अपने कर्म के आधार पर कभी यहाँ कभी स्वर्ग में कभी कहा मैंने पाताल से लेकर के सत्य लोक तक अपने कर्म के आधार पर घूमना है ये लोक चाहिए संसार घूमने का अधिकार संपूर्वक स्त्री धातु से संसार बनाया है संपूर्वक तो धातु है घाय प्रत्यय करके संसार बनाया संसार का अधिकरण लोक लोकान द्वितीयांग तद उपाधिभूतम लिंग शरीरम वो संसार उपाधि वाला जो लिंग शरीर लिंग शरीर है मानी लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में मन इसमें क्या होता है जब तक है तब तक ये आत्मा का उपाधिभूत है तद अभिमानियों देवान पर लिंग शरीर का अभिमान देवता इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता देवान तीन हो गए तद अधिष्ठानम थूल शरीरम इंद्रियों का सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान थूल शरीर तभी तो यहां कर्म करेगा वहां फल भोगेगा सब चाहिए इसको थूल शरीरम संसार रूप असनायादिन और भूख प्यास आदि धर्म ये भी संसार में आता है संसार रूप असनायादिम तद अभिमान भोक्तारम और खाने वाला पीने वाला जो होगा भोग प्यास का अभिमानी जो भोक्ता होगा जीवात्मा बनेगा इसके बिना संसार लोकोपत्य थे पूर्व माना ये सारा धर्म आए बिना संसार नहीं मिल सकता है लोक होगा किसी लोक में बैठ के कर्म करेगा उस लोक पर जाके फल भोगेगा लोक चाहिए और यहां कर्म करने वाला वहां जा रहा है तो सूक्ष्म शरीर जाते हैं उसके साथ जीवात्मा को जाना है स्थूल शरीर जाता नहीं तो सूक्ष्म शरीर भी चाहिए जीवात्मा को वहां पहुंचने के लिए और उसके अभिमानी देवता अधिष्ठात्री देवता यहां चक्षुरादि को कारक देवताओं के सहारे से कर्म किया है वहां भी फल भोक्ति से चाहिए और उसका अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर का काम करने के लिए शरीर छूल शरीर चाहिए अधिष्ठान चाहिए ये सब होने पर भी कर्मादि होता है कर्म करता अथवा फल भोगना करता भोगता तभी बनेगा और भूख प्यास आदि का अभिमान भूख प्यास और उसके अभिमानी देवता ये सब के बिना संसार हो नहीं सकता ये सब चाहिए संसार हो संसारी बनने के लिए ये सब धर्म चाहिए इति तस्य सर्वस्य सृष्टि वयम सृष्टि अयम आवश्यक अंत्य में ग्रंथे में क्रमेण भक्षण ये सारी की सृष्टि बताएंगे क्या क्या सृष्टि बताएंगे लोक का तो सृष्टि बता ही दिया है लोक का बता दिया है और आगे उसके भूत सूक्ष्म शरीर का भी यह सृष्टि बतलाना है बताएंगे अभी और उसके अभिमानी देवताओं का भी सृष्टि बताएंगे फिर उसके अधिष्ठान फूल शरीर की सृष्टि अभी कहने वाले हैं अच्छा और संसार भूख प्यास आदि तम असमाप्ति पास आप अन्नभाव जैसे जैसा श्रुति आएगी वो भी बताएंगे उसके अभिमानी देवता भोक्ता को भी बताएंगे अच्छा। इस तो ये सब बताने के लिए सृष्टि तस्य सर्वस्व सृष्टि अयम आवश्यक इति अंत्यन ग्रंथ है वहां तक के ग्रंथ से ये सारी बातें बताएंगे ये छह बातें बताएंगे आगे इसी प्रथम खंड के तृतीय प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के द्वादश मंत्र में आएगा अयम आवश्यक अयम आवश्यक अयम आवश्यक इसके ये जीवात्मा के घूमने का तीन स्थान है जागृत स्वप्न सुसुप्ति केवल त्रय स्वप्न तीनों ही स्वप्न मिथ्या है ऐसा कहना है उस वहां तक के ग्रंथों में छह बातों को बताएंगे वहां तक इसी का जो प्रथम अध्याय तृतीय खंड द्वादश मंत्र में है अयम आवश्यकता अयम आवश्यकता अयम आवश्यकता त्रय स्वप्न तीनों स्वप्न है मिथ्या है ऐसा बोले इसके प्रतिदिन घूमने का स्थान है कभी जागृत घर में होता है कभी स्वप्न घर में होता है कभी सुसुप्त में तो तीन अवस्था में घूमता रहता है ये इसका रहने का स्थान है ऐसा बताएंगे किंतु तीनों को स्वप्न करके मिथ्या घोषित करें स्वप्न तो प्रसिद्ध है ही है जागृत को भी स्वप्न करके बोली मिथ्या है तो वहां तक ये छह बातों को बतलाना है ये कहा क्रमेण वक्षण क्रम से बतानी है लोकादि की सृष्टि पहले हो चुकी है अब अभिमानी देवता की सृष्टि करनी है इत्यादि संसार संसरणाधिष्ठान लोक श्रेष्ठ होता है ये सब बताते हुए क्या बताना है आगे सबसे पहले संसरण का अधिष्ठान जो लोक है सृष्टि कह दिया पहले सलोकान अस्त्र जाता लोक की सृष्टि तो हो गई चौदह भवन की सृष्टि हो चुकी है पूर्व में कथन हो गया संसरणाधिष्ठान लोक सृष्टि रूपवा संसरण का जो संसद घूमना है इसने चौदह भुवन में जहां जहां घूमना उसकी सृष्टि तो बता दिया लोक की सृष्टि पूर्व में कह दिया तत्पाल देवता सृष्टि सृष्टि उक्ति ब्याज है ना उस लोगों की पालन करने वाले देवता होंगे अधिष्ठात्री देवता होंगे उसके सृष्टि के कथन के द्वारा अब यहां अधिष्ठात्री देवताओं का कथन करता है व्याज उसके माध्यम से समष्टि थोड़ा से देवता तभी लोग के पालन कर पाएंगे पालन करना माने यहां भोक्ता कर्ता बनना है वहां भोक्ता बनना तो संसार बनता रहेगा ये घूमता रहेगा तो संसार बनता रहेगा ये कर्म करना छोड़ देगा तो घूमना बंद हो जाए संसार बंद हो जाएगा तो संसार को रक्षा करने वाले ये प्रमाता जीव होता है इस तरह से बनता है तो इसलिए उनके संसार को रक्षा करने वाले जो देवता होते हैं अधिष्ठापित देवता इसके कथन के ब्याज से क्या कहना चाहते हैं देवता तभी हो पाएंगे थूल शरीर होगा थूल शरीर में गोलक बनेंगे वहां इंद्रिया आएंगे तब अधिष्ठापित देवता आएंगे ये स्थिति है तब तक देवता नहीं आ सकते उनके लिए चाहिए इंद्रिया गोलक चाहिए रानी की स्थान चाहिए और गोलक तब होगा थूल शरीर होने पर इसलिए पहले स्थूल शरीर से यहां आरंभ करते हैं लोक की सृष्टि कह दिया है और खुद एक विराट शरीर की कथन करेंगे उसके बाद इंद्रिया निकलेंगे कैसे निकलेंगे इंद्रियों की गोलक देवताओं के बैठने का स्थान फिर देवताओं की सृष्टि करेंगे बताएंगे एक कह रहे हैं <clears throat> तत्काल देवता सृष्टि उक्ति व्याज न देवताओं की सृष्टि के कथन के द्वारा माध्यम से समष्टि ठूल शरीर से या ठूल शरीर अभी जो बताने वाले समष्टि विराट का त्रिलोकाभिमानी ठूल शरीर से और समष्टि लिंग शरीर से उस विराट अंग में जो जो सूक्ष्म शरीर बैठेंगे वो लिंग शरीर समष्टि लिंग शरीर होगा उसका भी तद अभिमान नाम देवानंद और समष्टि स्थूल शरीर में रहने वाले जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उन सूक्ष्म शरीर के अभिमान देवताओं का भी कथन करेंगे पहला यही होगा पहले विराट के बारे में चर्चा करेंगे फिर विराट में इंद्रिय गोलक की चर्चा करेंगे फिर उसके देवताओं की चर्चा करेंगे <clears throat> इंद्रिय गोलक होने बाद इंद्रिया आएंगे इंद्रिया आने देवता आएंगे इत्यादि चर्चा ये कहा सृष्टि वक्तुम आरभते कहा स इक्षता इत्यादि मंत्र में कहा था स इक्षता ये मेरे लोग कहा लोग तो बन गए हैं और लोकपाल की आवश्यकता है लोकपाल वैसे आएंगे नहीं पहले स्थूल शरीर होगा स्थूल शरीर में इंद्रिय गोलक बनेंगे कुर्सियां बनेगी तो इंद्रिया आएगी उसके बाद में देवता आएंगे इसलिए पहले अब थूल शरीर सिद्धि करना है समष्टि थूल शरीर यह आरंभ करता है बेष्टि वाला नहीं समष्टि वाला लोकपालन श्रेय यदि कहा था सो अतिवैव स्थिति में थूल शरीर कैसे बनाना है वो पंचभूत है हमारे पास अभी साधन तो वही है जिसे लोक बनाया हुआ है वही है मटेरियल वही है वही पंचभूत से जल प्रधान है इसलिए अभ्य बोल दिया है पांचों भूत है उसी से पुरुषम मान पुरुषाकार एक आकृति वाला बना दिया पुरुषम समुद्रित निकाल करके अमूर्त है उसको अवयव के द्वारा हाथ पैर आदि अवयव के द्वारा युक्त कर दिया ऐसा था ये कहा <clears throat> तो टीका में कहते हैं तद व्याचस्ट उसी की व्याख्या करते हैं भाष्य में सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूतान चतुरो लोकान सृष्टवा चार लोग की सृष्टि हो गई यद्य चौदह भुवन है फिर भी अम्बस मरीची मर माप करके चार की चार नाम दिया है तो चार लोगों की सृष्टि करके देखा क्या करें सर्व प्राणी का कर्म सभी प्राणी के द्वारा जो जो कर्म होता है कर्म करने के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए बिना स्थान का कर्म नहीं कर सकता है कहीं भी चाहे धरती में होगा कहीं ये चौदह भुवन में से कहीं बैठ के कर्म करना है तो कर्म का अधिष्ठान बता दिया लोक बता दिया कर्म करने का जो आधार है सर्व प्राणी कर्म और फल भोग करने के लिए कोई स्थान चाहिए वो स्थान भी भोगेगा ये चौदह भुवन में कहीं कहीं बैठ के फल भोग करना है यहां बैठ के काम करेगा वहां बैठ के खाएगा फल भोगेगा यही होता है तो अधिष्ठान किसका अधिष्ठान प्राणियों के कर्म का अधिष्ठान फल का अधिष्ठान और उपादान होता है जो कर्म का साधन किससे कर्म निष्पन्न होना है उसके साधन कर्म का साधन वो उपादान है उसके भी अधिष्ठान कहीं बैठ के साधन काम करेगा वो सब ये इसके जो अधिष्ठान भूतान चतुर्लोकान सृजत माने कर्म का अधिष्ठान फल का अधिष्ठान साधन का अधिष्ठान आधार ऐसे लोगों की कथन कर दिया अब स ईश्वर पुनरेव इच्छता का सा ईश्वर में स ईश्वर ईश्वर वो ईश्वर ने फिर ईक्षण किया मैंने विचार किया क्या किया लोग तो बन गए और लोकपाल चाहिए इस लोक की रक्षा करने वाली वो चेतन वस्तु की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता समझा कहा इमे नो अंब प्रवृत्तो मया सृष्टा लोक ये मेरे द्वारा सृष्ट लोक हैं मैंने जो बनाया था ये लोग है ये लोग है इमे ये लोग हैं अंबादी लोग बन गए तैयार हो गए लोग जहां बैठ करके प्राणी कर्म करेंगे जहां बैठ कर फल भोगेंगे जहां साधन का उपयोग करेंगे नहीं होगा तो ये कर्म कर्म का साधन फल उसका अधिष्ठान लोग को तो तैयार हो गए किंतु अच्छा शिष्टा पा, पालयित्र वर्गिता विनश ये लोग नष्ट हो जाएंगे अगर इनकी रक्षक नहीं रहेगा तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे पालयिता चाहिए रक्षक चाहिए ये सोचा तो इसके रक्षक के लिए चेतन चाहिए इनको रक्षा करने के लिए चेतन चाहिए ये सोचा ये विचार किया तस्मात येषाम रक्षणार्थम लोकपालान लोकानाम पालयित्रिन नु सृजय सृजय अहम इसलिए तस्मा इसी कारण से इनकी रक्षा की दृष्टि में रख करके लोकपालान लोकपालों की सृष्टि करूं ऐसा सोचा लोकपालान माने लोकानाम पालयित्रिन लोगों को जो रक्षा करने वाले हैं ऐसे लोगों का सृजय माने सृजय अहम अपने लिए आदेश नहीं होगा इसलिए लट अर्थ करना है सृष्टि करूं ऐसा सोचा करता हूं ऐसा सोचा ये कहा टीका में कहते हैं ये जो फल उपादान अधिष्ठान था कर्म फल उपादान था इसका अर्थ करते हैं फल से तद उपादान साधन से तो अधिष्ठान यह है कर्म का अधिष्ठान तो सिद्ध हो ही गया फल का भी उपादान है अधिष्ठान है वो फल भी किसी लोक में बैठ के भोगेगा इस लोक में कर्म करेगा उस लोक में फल भोगेगा वो कर्म का भी अधिष्ठान है लोक फल का भी अधिष्ठान है और तद उपादान से मैंने तत्साधन से जो फल का साधन होगा कर्म का साधन होगा जिससे कर्म निष्पन्न होगा उसका भी अधिष्ठान ये लोग होते हैं भूतान ऐसे लोगों के तो मैंने सृष्टि कर ली ये परमात्मा की सोच है नू शब्द का अर्थ करते हैं तू तू अर्थ करना बोलते हैं नू का अर्थ किंतु नू माने किंतु क्यों नू अव्यय है यद्यपि वितर का अर्थ में बताया हुआ है नू वितर के अव्यय जो नू आता है वितर के फिर भी अव्यय नाम अनेक अर्थत्वाद बोलते हैं अव्यम का अनेक अर्थ होता है यहाँ लोग का अर्थ तू किंतु प्रसंग बदलने के लिए लोग तो सृष्ट हो गए किंतु लोकपाल की आवश्यकता है ये नू शब्द तू अर्थ में है ये कह रहे टीकाकार नाम अनेक अर्थत्वाद नू शब्द अव्यय है अव्ययों का अनेक अर्थ होने से क्या होता है तू शब्द अर्थम वैलक्षणम लोकान तो इसलिए तू शब्द के अर्थ में नू शब्द का प्रयोग विलक्षणता दिखाता है जड़ लोक की सृष्टि हो गई विलक्षण चेतन की सृष्टि करते हैं लोकान लोका नाम आह लोकों का वैलक्षण्य कहता है लोग जड़ थे इसे विलक्षण सृष्टि करता है इसे लोकपालान बोला है विलक्षण बता, बताता है मुंह शब्द का इत्याभाष्यकार ये बोलते मुंह शब्द ऐसा बोलता है ये कहते भाष्यकार नु इत्यादि कहा अहम के आगे जैसे भाष्य में अंत में अहम आया इसके आगे अहम इति अश्य इक्षता इति पूर्व अन्वय पालित्रेन सृजय मैंने सृजे अहम इति इक्षता भाष्य के अंत में इक्षत पूर्व में है उसको अन्वय करना इस प्रकार से ईक्षण किया इस लोक पावों की मैं सृष्टि करता हूं क्यों इसकी रक्षा के लिए इस लोक से विलक्षण होता है चेतन ये जड़ है जड़ से विलक्षण चेतन की सृष्टि कर ऐसा परमात्मा ने सोचा विचार किया था आगे टीका भी कहते हैं आगे समष्टि लिंग शरीर से तद अभिमानी नाम विराट अवयवचन तदर्थम विराट सृष्टि महा सबसे पहले सो अद्वय पुरुषम समुद्र के अमृत सहित बोलना चाह रहे हैं क्यों कहते हैं यहां करना तो था चेतन की सृष्टि करनी थी इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता की ये करना था किंतु अधिष्ठात्री देवता तभी आएंगे इंद्रिया बैठेंगे तब इंद्रिया तभी आएंगे कोई शरीर होगा रहने का स्थान होगा तो इंद्रिया आएंगे इसलिए पहले शरीर की सृष्टि बताते हैं जाना तो चेतन में है चेतन की सृष्टि बताना तात्पर्य है किंतु अभी विराट शरीर की कल्पना पहले सृष्टि बताते विराट ही बोलते हैं ये कह रहे हैं समष्टि लिंग शरीर से तद अभिमान विराट का समष्टि लिंग शरीर और उस लिंग शरीर के अभिमानी जो देवता होंगे समष्टि देवता इनका विराट या अवयव से जन्य विराट के शरीर में एक एक अंग बनेगा जब गोलक बनेगा तो इंद्रिया बैठेंगे तब अधिष्ठात्र देवता आएंगे वो, वो वो है देवता है रक्षा कर लोगों की इसलिए तदर्थम विराट सृष्टि में इसलिए पहले विराट चाहिए जो करना तो चेतन देवता की सृष्टि है लोग की रक्षा के लिए किंतु चेतन देवता वैसे नहीं आएंगे उनको वो इंद्रिय के अधिष्ठाता बनना है उसके लिए इंद्रिय की आवश्यकता इंद्रिय तब आएंगे गोलक बनेगा गोलक तब आएंगे शरीर होगा तो इसलिए पहले शरीर की सृष्टि पता है विराट शरीर के बोलना चाहते हैं ये भाष्य कहते हैं सो अध्यय एवं स माने वो परमात्मा अध्यय एवं जल से ही जल माने यहां अप्रधान एवं एक पंचभूत जल प्रधान जो पंचभूत है है तो क्या अंबस आदि शब्दों से कहा जल का वाचक ज्यादा आया इसलिए जल शब्द का प्रयोग किया किंतु खाली जल से तो शरीर नहीं बनेगा पांचों भूत चाहिए तो अद्वय एवं बने अप्रधान पंचभूत जल जिसमें प्रधानता जल की प्रधानता है ऐसे जो पंचभूत के द्वारा पांचों भूतों से योभ्यो अंब प्रवृत्ति सृष्टवान जिन पंचभूतों से अंबादि चार लोगों की सृष्टि किया था परमात्मा अंबस मरीची मरा मापा जिन जलों जल, जल प्रधान पंचभूतों से येभ्यो पंचभूत जिन पंचभूतों से इन अंबादी लोगों की सृष्टि की थी सृष्टवान तेभ्य उसी से जिससे लोगों की सृष्टि की उसी से भी अभी एक शरीर निकालता है कोई पंचभूतों से एक शरीर जिसमें चेतन देवता बैठ सके आकर के शरीर होगा तो गोलक बनेगा गोलक होने पर इंद्रिया आ जाएंगे इंद्रिया आने पर अधिष्ठात्री देवता आएंगे तो वो देवता लोक की सृष्टि करेंगे ये विचार से एक सो अद्भय एवं मैंने अप्रधान है भूत पंचभूत तो पंचभूत से बनाए विराट शरीर किंतु जल प्रधान है ये भ्यो अंबस प्रवृत्ति सृष्टवान जिन पंचभूतों से अंबस आदि की सृष्टि की थी चार लोगों की तेभ्य एवं उसी से है कोई अप्रदान पंचभूतों से पुरुषम माने पुरुषाकारम जैसे एक शरीर का आकार होता है उस प्रकार का जल से निकाल के बनाया उसने माने पंचभूतों से ऐसा एक पिंड निकाला पुरुषम माने पुरुषाकारम माने सिर पहाड़ियाली बनता हाथ पैर वाला सिर हाथ पैर वाला ऐसा आकृति का एक मांस का लोथ निकाला वहां से ऐसा बना दिया समुद्रित्य पुरुषा माने पुरुषाकार माने सिर पहाड़ियाली मंत्र सिर हाथ वाला अवय वाला ऐसा बना दिया समुद्रित्य निकाल करके समुद्रित्य माने कहां से निकाला अद्य जल से निकाला माने कोई पंचभूतों से निकाला पंचभूति तो साधन है वहां जल प्रधान पंचभूत है अद्य समुपादाय माने अप्रधान्य पंचभूत ऐसा अर्थ करना जल जिसमें प्रधानता है ऐसा पंचभूतों से सम्यक उपादाय समुपादाय निकाल करके मृतपिंडम एवं कुलाल पृथ्व्या है जैसे देखो पृथ्वी बड़ी होती है उसमें से मिट्टी का एक पिंड निकालता है कुमारघट बनाने के लिए एक मिट्टी इतना मिट्टी निकाल लेता है उसी प्रकार पंचभूत बहुत है उनमें से थोड़ा सा निकाल दिया एक शरीर बनाने के लिए एक दृष्टांत दिया मृतपिंडम एक कुलाल प्रतिज्ञा एक दृष्टांत जैसे पृथ्वी से कुमार जो होता है मिट्टी के एक पिंड निकाल लेता है आगे घर बनाना उसमें ठीक इसी प्रकार वो पंचभूतों से एक शरीराकार पिंड निकाल परमात्मा ने निकाल करके क्या किया अमूर्छयत कहा मूर्छा धातु होता है दो अर्थ में होता है मोह अर्थ भी होता है समुच्छा अर्थ भी होता है तो मूर्छित हो जाना बेहोश हो जाना मूर्छा धातु का अर्थ होता है या उन्नति भी होती है इसका अर्थ या उन्नति अर्थ है उसका अब आगे जाकर उन्नति होनी उसकी चेतन बनेगा आगे जाते हैं अमूर्छयत वो मूर्छित हुआ परमात्मा ने मूर्छित करा दिया एडिजन तो प्रयोग है निजंत करके लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अमूर्छयप मूर्छित करा दिया उसको माने अवयव के द्वारा युक्त करा दिया हस्तपाद आदि अवयव से युक्त कर एक पिंड निकाला उसको हाथ पैर आदि बना दिया युक्त कर दिया एक माने अमूर्छित माने मूर्छितवान मूर्छितवान का संपीड़ितवान उसको पीड़ित किया माने स्व अवयव संयोजन है ना एक उसके अवयव जैसे अवयव होना चाहिए वंशी आदि का वैसे अवयव से उससे कर दिया सारे अवयव हाथ पैर कान नाक आदि बना दिया गोलक ऐसे बना दिया कहा ठीक हमें कहते हैं यद्यपि लोकोत्पत्ति पूर्व में तो अंडोत्पत्ति रोकता है यद्यपि अंड सृष्टि पहले बता दिया है चौदह भवन की सृष्टि बता दिया अंड सृष्टि बता दी लोक उत्पत्ति के पहले अंड बनाया क्योंकि भाष्यकार ने ऐसे प्रयोग किया था वैसे लोग बनेंगे नहीं लोक बनने के लिए पहले अंडा चाहिए अंडा होने के बाद होगा पहले ब्रह्मांड बनाया उसके बाद पहले तो पंचभूतों का मिश्रण किया पंचभूत मिश्रण होने के बाद में पंचीकरण के बाद में अंडा निकाला ब्रह्मांड बना ब्रह्मांड मान एक हो गया सारा उसमें फिर कल्पना कर दी लोगों की तला तला तला बना दिया ये कहा है यद्यपि लोकोत्पत्ति पूर्व में वो अंडोत्पत्ति होता यद्यपि ऐसा कहा कि लोक उत्पत्ति के पहले अंड उत्पत्ति बोल चुके हैं कहा अंडम भाष्य में ऐसे कहा था अंडम उत्पाद्य अंब प्रवृत्ति लोकान अस्थिरता ऐसा भाष्यकार ने प्रयोग किया है हम्म। चौतीस नंबर पृष्ठ में देखना ऐसा भाष्यकार का भाष्य में पंक्ति होगी अंडम उत्पाद्य अंब प्रवृत्ति लोकान अस्थिरता सलोकान अस्थिरता में ऐसा होगा खाली लोगों की सृष्टि नहीं कर सकता जब तक अंडा नहीं बनेगा ब्रह्मांड नहीं बनेगा तो इसलिए परमात्मा को कहा था अंडम उत्पाद्य अंब प्रवृत्ति लोकान अस्थिरता ऐसा शब्द था चौतीस नंबर पृष्ठ में ऐसा कहा था भाष्य में पंक्ति थी भाष्य ना भाष्य से कहा था माने अंड उत्पत्ति के बाद ही ब्रह्मांड कहा था और ये क्या है तो कहते हैं तथापि सायव उत्पत्ति जो अंड की उत्पत्ति यहां कहा गया है जो त्रैलोक के शरीर है चौदह भुवन में अभिमान करने वाला होता है ये कौन विराट वो अंड रूप है अंड में पूरे ब्रह्मांड में अभिमान करने वाला है उसी के यहां जो अंड की उत्पत्ति थी उसी को यहां दोबारा कहा अनुवाद किया यहाँ विराट शरीर के माने ये तो भुवन बनने के पहले हो चुका है सृष्टि हो चुकी है वही कहा यहाँ तो सा एवं उत्पत्ति वही जो उत्पत्ति बताई थी अंडे की पहले लोक सृष्टि के पहले कहा था उसी को यह अनुद्यत इस मंत्र में अनुवाद किया जाता है किसके लिए लोकपाल सृष्टि या लोकपाल की सृष्टि करना है इसलिए वो अंडे की सृष्टि के दोबारा कथन किया अनुवाद किया जाने कहा इतना विरोध है भाव इसलिए कोई विरोध नहीं अभी लोकपाल की सृष्टि करने की दृष्टि से कहा गया न विरोध तीन चार पांच में टिप्पणियां हैं तीन तो हो गई तीन तो विराट अवयजन्यवाद ऐसा था इसका अर्थ करते हैं तत्र अभिव्यक्ति समष्टि लिंगा लिंग शरीर कहां अभिव्यक्ति होती है वही अभिव्यक्ति होती है उसके अभिमानी भी जो होते हैं समष्टि लिंगाभिमानी वो विराट शरीर में उसकी अभिव्यक्ति होती है ये कहा इसलिए वो बताना है चार में कहते हैं अंडोत्पत्ति माने अंडम माने ब्रह्मांडम या अंड समझना तो मतलब ब्रह्मांड है सएव च विराट वही विराट है विराट देह ब्रह्मांड ही है ब्रह्मांड त्रैलोक ब्रह्मांड में अभिमान करने वाले को विराट बोलते हैं वही विराट होता है विराट का देह है वो ये भाव है कहा वो पहले सृष्टि हो चुकी है अंड की सृष्टि उसके बाद लोगों की सृष्टि यद्यपि स्थिति ऐसी है फिर भी यहां दोबारा विराट की सृष्टि बताया जा रहा है इसलिए आगे अधिष्ठात्री देवता का कथन करना है वो विराट शरीर में रहना है इसलिए कहा पांच न विरोध अंड विराज और भेदापत्ति न अंड में और विराज में भेद हो गया विरोध हो गया ऐसे भेद की आपत्ति में एक ही वस्तु है पहले अंड शब्द से कहा था अब यहां पर उसको ये बोल रहे हैं <clears throat> पुरुष शब्द से कहीं किया भेद नहीं है रहा अच्छा आगे केवल का ये एवं देवकाराधम आ वो जल से ही निकाला बोला ना पंचभूतों से ही निकाला है जल प्रधान पंचभूतों से एक शरीर का आकार निकाला पिंड निकाला और उसमें हाथ पैर आदि से युक्त कर दिया बोला था इस कहते एभ्य एभ्यो अंब प्रवृत्ति में सृष्टवान जिन भूतों से अंबा अंबा आदि लोगों की सृष्टि की थी उसी भूतों से ये भी बना है दूसरा भूत नहीं ले तो दृष्टांत दिया था जैसे पृथ्वी से मिट्टी के ढेला निकाल लेता है घट बनाने लिए कुमार अलग ले लेता है एक पिंड लेता है कहा था कुलाल पृथ्वी सकाशात मृतपिंड जैसे पृथ्वी से कुलाल मृत्यु का पिंड निकालता हो इसी प्रकार वो परमात्मा ने काम किया उस पंचभूतों से एक पिंड निकाल निकाल करके उसने हाथ पैर आदि से युक्त कर दिया ये कहना चाह रहे स्वावय संयोजन है ना उसके अवयव संयोजन मैंने भूतानाम परस्पर अवयव संयोजनम अतिश्लिष्ट संयोग देना अब भूतों के परस्पर मिलाया उसने पंचभूतों के अवय जोड़ दिया भूतानाम पंचभूतों का परस्पर अवय संयोजन उनके परस्पर अवय मिला करके संयोजन माने अतिश्रेष्ठ संयोजन एक विरल संयोग होता है एक घनिष्ठ संयोग होता है भूतों को एकदम जकड़ के बना दिया शरीर रूप में बना दिया विरल संयोग नहीं है कठिन संयोग बना दिया आगे मंत्र है <clears throat> तम अभ्युतपत तस्याभितप्त मुखम निरवेद्यत यथांगम मुखालभाग वाचोग्निर नाशिके निरविद्येता नाशिकाभ्याम प्राण प्राणाद अक्षिणी निर्विद्येता अक्षिभ्या चक्षु चक्षुषा आदित्य कर्मो निर्भिदेता कर्णाभ्याम श्रोत्रम श्रोत्रातिश तम तथो लोमानी लोमभ्य ओषधी वनस्पत हृदय निर्भिद्यत हृदयात्मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्निर्भिद्यत नाप्यापानो अपानान मृत्यु शिष्णम् निरविद्यत शिष्णाद्रेतो रेतसा आप तम अव्यतपत तस्यावितप्तस्य मुखम् निरभिद्यत यथाण्डम् मुखाद्वाग् पाचोऽग्नि नाशिके निरविद्येताम् नाशिकाभ्याम् प्राणाद वायु अक्षिणी निर्विद्यता अक्षिभ्याम चक्षु चक्षुषादित्य कर्णौ निर्विद्यता कर्णाभ्याम श्रोत्र श्रोत्रादिश तम निर्विद्यत रसो लोमानी लोमभ्य ओषधि वनस्पतो निर्विद्यत दयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निर्विद्यत नाभ्यापानो अपानान् मृत्युः शिष्मम् निर्विद्यत शिष्णाद्रेतो रेतसः आपः तम पिंडम वो जो पिंड है जो पंचभूतों से निकाला था सो अवयव से युक्त कर दिया था एक पिंड था पुरुषाकार मैंने एक शरीर का आकार बना दिया था जो पिंड उसमें विचार किया संकल्प कृतवान उसमें संकल्प किया यहां ऐसे ऐसे वस्तु करो बनाओ मुख के लिए ऐसा कर दो आंख के लिए ऐसा कर दो ऐसा सोचा जो विचार किया उस पिंड एक पिंड बना था उसमें आंख मुख आदि नहीं थे अब इंद्रिय गोलक बनाने को सोचा तम अप्यतपत उस पिंड को फिर तप तपाया मैंने संकल्प से तपाया विचार किया उसने या कहा क्या बनाना चाहिए हाँ, आंख के गोलक कहाँ बनाना चाहिए मुख का छिद्र कहाँ बनाना चाहिए कान का छिद्र कहाँ बनाना चाहिए हाँ, तब तक इंद्रियों का कहाँ कहाँ रखना है तो ये विचार किया उस पेंटर ने तम अप्यत उसको तपाया तस्य तप तस् जब पिंड तप गया विचार से युक्त हो गया या विचार रूप तप है जब तप किया विचार किया किस स्थान पर क्या किसको बैठाना है क्या इंद्रिय बैठाना है विचार किया उसके लिए गोलक कैसा बनाना है सभी इंद्रियों का गोलक एक जैसा नहीं है अलग अलग कुर्सियां हैं अलग अलग ढंग की कुर्सी हैं यहाँ कोई पूरे शरीर में रहने वाली है कोई एक देश में रहने वाली है कोई विषय देश में जाके विषय ग्रहण करने वाली इंद्रिया है कोई विषयों में ई लाना पड़ता है भिन्न भिन्न तरह के तो किसके लिए कहा बैठाना है विचार किया उस पिंड को तम अव्यत मान उस पिंड को विचार से तपाया आगे के लिए नक्शा बना रहा है क्या करना एक गोल मटोल पिंड निकला हुआ है कहा क्या बनाना है कौन इंद्रिय के लिए कैसा जगह बनानी है उसने विचार किया तस्य अभी तब तस् मुखम जब तपा विचार किया परमात्मा ने तो उस तपा हुआ पिंड का क्या हुआ मुख निकल आया मैंने फट गया थोड़ा एक जगह फट गया मुखम निर्भित था यथा अंडम जैसे पक्षी का अंड फटता है ऐसा हो जाता है यहां भी ऐसा हो गया फट गया मुख निकल आया परमात्मा ने विचार किया ऐसा हो जाए हो गया मुखम निर्भिद्यता हाँ। <clears throat> निरअभिद्यता ये ही प्रयोग किया है लग लकार है विधिर विदारण है फट गया मुख फट गया एक ही था छेद बन गया मुख छिद्र बन गया कर्म ही प्रयोग है अभिनत होता था कर्तरी में हाँ, वो मुख मैंने फटा परमात्मा ने फटवा दिया उसको में करवा दिया ऐसा हो गया और मुखात बाघ जब मुख बन गया तो बाघेंद्रिय आगे बैठ गए उसमें यहां आगे बाघेंद्रिय बैठ गए गोलक कुर्सी मिल गई उसको मुखात बाघ बाघेंद्रिय पैदा हो गए बाचो अग्निर और बाणी बन गई तो अग्नि आ गए आगे आएगा अग्नि बाघ भूतवा मुखम प्रांश अग्नि अलग नहीं वाणी में ही अग्नि समावेश हो जाता है वाणी से अतिरिक्त स्थान नहीं होता उसका अग्नि वाणी स्वरूप ही होकर के वाणी में प्रविष्ट होता है वो अधिष्ठात्री देवता माने मुख बन गया मुख बनने पर बाघेन्द्रिय आ गई बाघेन्द्रिय आने पर अग्निदेव आ गए अरे यहां गोलक इंद्रिय देवता तीन तीन बताएंगे तब तक गोलक और तब तक इंद्रिया गोलक में रहने वाली इंद्रिया कुर्सी बताएंगे इंद्रिया बताएंगे और देवता ये बताना है सभी मुख और बाघ बोल गया मुख जब बन गया फट गया मुख उस एक जगह फट गया उसका तो निद्रिविदारण से निर्विद्यत बना हुआ है विदार है कर्मणि प्रयोग किया है जो मुखात्पाद जब मुख बन गया तो बाणी वांग इंद्रिय आगे बैठने बाणी आने पर अग्नि आकर के उसको उपकार करने लग जाए बोलने की शक्ति प्रदान करने लगे अग्नि का नाशिके निर्भिद्यता इसी प्रकार परमात्मा ने सोचा दो ऐसा छिद्र बन जाए इसमें एक ही था वो तो गोल मटोल पिंड था नाशिके निर्भिद्यता तो दो नासिका के छिद्र निकलाए उसमें छिद्र निकला नासिकाभ्याम प्राण जब नासिका बन गई इंद्रिया आ गई तो प्राण आ गए प्राण वायु प्राण आने पर उसके अधिष्ठान देवता वायु अक्षिणी हम दो आंख निकल आए तो जो गोलक बन गई है ऐसा होने पर अक्षिभ्याम चक्षु कहते हैं और अक्षि में चक्षु इंद्रिया आके बैठ गई चक्षु इंद्रिया है अक्षि माने गोलक और चक्षु माने इंद्रिया चक्षु इंद्रिया आ गई से आदित्य चक्षु को उपकार करने के लिए आदित्य आगे बैठ गए तो व्याम में एक नंबर टिप्पणी देते हैं दीर्घ कैसे हो गया अक्षी शब्द है हर्ष है व्याम आने पर भी वहां पर सुबीजा तो लगना नहीं अधम तम का ही नहीं अक्षी दीर्घ कैसे हो गया तब कहते हैं व्याम की छांदसो दीर्घ टिप्पणी कहा जाते हैं मंत्र है दीर्घ कर दिया लोक में होता था अक्षिभ्याम हर्ष होता छांदस प्रयोग है अक्षीभ्याम यह है आदित्य हम्म, हो गया आगे करोड़ों निर्भिन्नता कहा कान के ऐसे छिद्र बन गए तो ये कान नहीं है छिद्र होता है वहीं से शब्द सुनना होता है शब्द यही होते हैं कान कर्ण निर्भिन्नता तो कान निकल आए कर्णाभ्याम स्त्रोत्र जब कर्ण बन गया तो स्त्रोत्र इंद्रिय आकर बैठ गई सुनने की शक्ति जो होती है श्रोत्र इंद्रिय और श्रोत्रा दिशा उसके देवता दिशा है दिशा के उपकार करने लग जाए त्वम निर्भेद्यता का त्वग इंद्रिय निकल आया उस शरीर में विराट शरीर में त्वचो लोमानी जो इंद्रिय आ गए तो क्या होगा उसके बाद लोम निकल आएगा त्वगिंद्रिय लोम होते हैं त्वचा लोमानी लोम अभ्य औषधि वनस्पति कहते हैं लोम से क्या आया औषधि वनस्पति आ गए तो इंद्र का देवता का चर्चा नहीं की वायु देवता होता उसका तो भी आया हृदय में निर्वेदित जिसको हार्ट करके बोलते हैं मांस में निकल आया हृदय जिसमें मन रहेगा आगे हृदय निर्वेदता हृदया जब हृदय बन गया तो मन आगे बैठ गया मनस चंद्रमा और मन आने के बाद में चंद्रमा उसके देवता है वो के देवता वो आगे गया नाभिर निर्भिन्नता नाभि की उत्पत्ति हो गई परमात्मा ने सोचा यहां पर नाभि बन जाए तो ऐसा हो गया आकार हो गया नाभ्या अपान वहां से अपान वायु की सृष्टि हो गई अपानात मृत्यु अपान की अधिष्ठात्री देवता मृत्यु है शिष्टम निर्वेदता उपस्थ इंद्रिय निकल आया शिष्टाध रेता उसमें से रेत निकला रेत से आपका रेत से आप यद्यपि न इंद्र के अधिष्ठात्री देवता प्रजापति है प्रजापति है किंतु उसको नहीं दिया यहां रेत में पहुंच गए रेत के कारण जल होता है जल के देवता वरुण होता है उस तरह से पहुंचे गए ऐसी अर्थ किया है अच्छा <clears throat> ठीक है देखिए विराट उत्पत्ति मुक्ता तद अवयभ्य लोकपाल उत्पत्ति माना विराट की उत्पत्ति का कथन करके विराट के एक एक अवयव से तत्त अवयव से विशेष अवयव से लोकपाल की उत्पत्ति का कथन करना चाह रहे हैं ये उत्पत्ति महा तम पिंडम इत्यादि भाषा में रहा तम पिंडम पुरुषविदम उद्देश्य अपथपथ जो तो पुरुषाकार एक पिंड बना हुआ था जल से निकाला था तो एक पुरुष माना एक शरीर के आकार बना था वो शरीर भी एक शरीर का आकार नहीं है वो ब्रह्मांड में जितने शरीर है सभी आकार वाला है वो वो तो समष्टि है वो ऐसा एक आकार निकाल करके बनाया था उसको तम पिंडम पुरुषम पुरुष विधम पुरुषाकार पिंड को उद्देश्य उद्देश्य करके आपने सोचा विचार किया कहा क्या बनाना है इसमें क्या कौन से कहा छेद बनाना है कहां पर लागू ऊपर से जोड़ना है कुछ करना है ये सब विचार किया अभी तपन तो मैंने अभिध्यानम संकल्पम करना है अभी तपन तो मैंने कोई जलाया नहीं उसको कुछ किया नहीं यहां पर संकल्प किया विचार किया कहा क्या बनाना है इसमें जैसे कलाकार को एक पत्थर दिया जाए तो एक मूर्ति के आकार में निकाल देता है छेद करके डिगरूर कर देता है यहां ये बनाऊंगा यहां बनाऊंगा सोचता है वैसे परमात्मा ने विचार किया ऐसा यश ज्ञानमयम तप ऐसा कहा हुआ है स्मृति मुंडन में बोला है यश्य ज्ञानमयम तप जिसका विचार रूप तप है ऐसा कृष्ण चांद्रायण जी तब नहीं होता परमात्मा का विचार लोगों की सृष्टि कैसे हो लोकपालों की सृष्टि कैसे हो इनकी रक्षा किस तरह से हो बस यही संकल्प रूपी तप होता है इससे ज्ञान वायु तप होता है इत्यादि इसलिए यहां पर कोई तप कृष्ण चांद्रायण तप नहीं समझना तस्य अभितप्त जब वो पिंड तप गया विचार विचार से युक्त हो गया परमात्मा का विचार पूर्ण रूप से पिंड में गहराई पहुंचेगा यहां ये करूं यहां ये करूं ये बनाऊं ये बनाऊं ऐसे ज्ञान हो गया तब ईश्वर संकल्प में तपसा अभितप्त ईश्वर के संकल्प के द्वारा ईश्वर के संकल्प रूपी तप से जो तपा हुआ पिंड है उसमें निश्चय कर लिया यहां ये बनाऊं यहां बनाऊं यहां बनाऊं ऐसे निश्चय कर लिया परमात्मा ने उस पिंड ऐसा होने पर से मुखम निर्मित मुख निकल आया मुखाकारम सुशिरम था जैसे मुख का आकार होता है क्षेत्र छिद्र होता है ऐसे फट गया वो थोड़ा एक जगह फट गया छिद्र फट गया मुख के आकार जैसे मुख फटा हुआ होता है वैसे फट गया तो थोड़ा ऐसा हो गया यथा पक्षणों अंडम निर्विद्यता एवं जैसे पक्षी का अंडा फट जाता है ना पक्षी का अंडा पहले एक ही था फट जाता है वैसे ये भी एक ही पिंड था थोड़ा सा एक जगह फट गया ऐसा हो गया ठीक है देखें तप शब्द ना अभिध्यान शब्दितम ज्ञानम उच्चते या तप शब्द के द्वारा कृष्ण चांद्राणी तप नहीं लेना है तम अभी तप हाँ, नहीं लेना माने यहाँ क्या संकल्प रूप तप को लेना है कहा क्या कार्य करना है ऐसा संकल्प किया ये विचार है पिंड निकलने के बाद तप शब्द ना अभिध्यान शब्दितम ज्ञानम उच्चते अभिध्यान शब्द के द्वारा ज्ञान है विचार किया है कहा क्या बनाना है इस पिंड में न कृत्र कृत्रादि कृत्र चांद्राणी तब को नहीं बताया है श्रुति में इतर तो श्रुति में यश ज्ञान में तब वंश का दृष्टांत किया जिस परमात्मा का तो ज्ञान रूपी तप होता है यश तपो ज्ञान एवं न कृत्रादि इत्यर्थ जिस परमात्मा का तब ज्ञान ही होता है कृष्ण चांद्रायण तब तप नहीं होता परमात्मा का ये बताया भाष्य में आगे बोलते हैं तस्मात निर्भिन्नाथ मुखात जब बुक का छिद्र फट गया गोलक बन गया इंद्रिया आ जाएगी बाघ इंद्रिया आ जाएगी मुख में ये बोलते हैं तस्मात निर्भिन्नाथ मुखात बाघ कारण इंद्रियम निर्भरता जब बुक का छिद्र फट गया तो वाणी रूप जो कारण है इंद्रिय है बोलने की शक्ति वो आगे बैठ गई इंद्रियम निर्भर निष्पन्न हो गया उस उत्पन्न हो गई वाणी तद अधिष्ठाता अग्नि और वो वाणी के जो अधिष्ठाता है अग्निदेव वो भी आ गए पैदा हो गए तथो बाचो लोकपाल इसलिए उस क्या होगा उस वाणी का लोकपाल है वो उस वाणी का तथो बाचो लोकपाल उस वाणी का लोकपाल हो जाएगा उस वाणी से निकला अग्नि कहां से निकला तथा वाणी से निकला तथा वर बाच निकला हुआ क्या है तो लोकपाल है वो रक्षक है लोकपाल की सृष्टि करूं कहा था वही लोकपाल सृष्टि करने के विराट की सृष्टि फिर इंद्रियों की सृष्टि फिर लोकपाल वो लोकपाल है अज्ञात तथा नाशिके निर्विद्यता इसी प्रकार नाशिका जैसे होना चाहिए छिद्र बन गया पिंड एक ही था दो तो छिद्र आ गए बन गया निकल आए परमात्मा की इच्छा से नाशिकाभ्याम प्राण नाशिका से प्राण उत्पन्न हो गया और प्राणात वायु उसके लोकपाल हो जाए वायु अधिष्ठात्र देवता है यदि सर्वत्र अधिष्ठानम करणम देवता च क्रमण निर्भिन्न निर्भिन्नम यदि ये सबके सब ये जितने भी पर्याय हैं ये समझना अधिष्ठान करण देवता ये तीनों लेना है ये तीनों कर्मण निर्भिन्न पहले एक अधिष्ठान पैदा होगा उसके बाद में कारण पैदा होगा फिर देवता होगा गोलक तो अधिष्ठान हो जाएगा उसके बाद कर्ण इंद्रिया हो जाएगी उसके बाद में ये हो जाएगा देवता ये कहा अक्षिणी कर्ण ये सब में ऐसे बोलना अक्षिणी आख दोनों आख कर्णव बने दोनों कान त्वक हृदय हृदय अंतकरणाधिष्ठानम और हृदय का अर्थ लेना है अंतकरण का अधिष्ठान मांग पिंड लेना हृदय का अर्थ अंतकरण का अधिष्ठान जो हृदय है मनो अंतकरणम मन शब्द से अंतकरण लेना है मन मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको लेना है मन शब्द है मंत्र में ना भी सर्व प्राण बंधन स्थान नाभि जो है केंद्र है सारे प्राणों में बंधन का केंद्र स्थान है ये कहा तस्मात अपान संयुक्तत्वाद वहां प्राण अपान ज्ञान समान सभी संयुक्त है अपान वायु वहीं से नीचे की तरफ जाना है मैंने गुदा की तरफ जाना है इसलिए अपान पैदा हुआ कहा वो सभी प्राणों का बंधन का स्थान है वो नाभि केंद्र है क्योंकि सबका बीच यही है प्राण अपान वहीं से पूर्व ऊपर प्राण आता है नीचे जाता है अपान बनता है क्योंकि बीच नाभि केंद्र है सब वहीं से व्याम वायु फैलना है समान वायु को वहीं से फैलना है सभी देश में जाना है कोई भी कार्य करें बलवान बलवत कार्य करते समय कोई ऊर्जा आदि उठाते समय में प्राण अपान शक्ति को रोकेगा तभी उठेगा वो ओजन कहां रोकेगा तो नाभि में हो जाता है तो। अपान ऊपर आया प्राण नीचे गया नाभि में केंद्रित होता है सभी प्राणों का केंद्र स्थान होता है नाभि ठीक है तस्मान उस नाभि से अपान संयुक्त अपान की उससे अपान वायु संयुक्त है नाभि में इसलिए अपान निकला कहा पायु इंद्रिय उसके जो अपान का जो इंद्रिय क्या होगा पायु उदा कुछ कहा तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्यु हाँ, उस पायु उदा इंद्रिय का जो अधिष्ठात्री देवता है मृत्यु है इसके ये निकला यथा अन्यत्र तथा शिष्ण हाँ, जैसे अन्यत्र माना वैसे यहां भी ऐसे मानना माने या क्या है इंद्रिय के गोलक इंद्रिय और अधिष्ठात्री देवता तीन बताया है यहां भी इंद्रिय का गोलक इंद्रिय और अपान को इंद्रिय माना नाभि को गोलक माना और मृत्यु हुए जाएगा देवता हो जाएगा एक तथा शिष्णम निर्वेचते इस प्रकार शिष्ट इंद्रिय उपस्थ इंद्रिय निकला माने प्रजनन इंद्रिय स्थान या शिष्ट शब्द का अर्थ प्रजनन इंद्रिय लेना है इंद्रिय रेत ये यहाँ रेत शब्द का अर्थ मतलब प्रजन इंद्र का स्थान इंद्रिय है और रेतो है रेत शब्द से लिया है शिष्णम शिष्णाद रेता बोला हुआ है तो यहाँ प्रजन इंद्र स्थान में रेत को लिया है रेतो विसर्गा क्योंकि रेत का विसर्ग करने वाला इंद्रिया है वो इसलिए रेत शब्द ही बोल दिया सह रेत सा उचित इसलिए रेत के सहित उसको बोला है रेतस आप रेत रेतस आप का अर्थ है प्रजापति शब्द को लेना है उसके देवता प्रजापति होते हैं कैसे होगा टीका में संगति लगाएंगे अच्छा हाँ। टीका में कहते हैं ततो बाचो लोकपालो अग्निर्भाग अधिष्ठाता निर्वर्तित संबंध तत्व का अर्थ बाच ततो बाचो माने जो लोकपालो अग्नि माने उस बाणी से क्या हुआ तथा बाचा पंचमी है उससे क्या हुआ लोकपाल अग्निदेवता पैदा हो गया अर्थ का अधिष्ठाता है निर्वर्तित व्यंग यद्यपि बाघाधिकरण जातम अपंचीकृत भूत कार्य देखो बाघादि इंद्रिया जो बनते हैं पंचीकृत भूत अवस्था में नहीं होते हैं जो अपंचीकृत अवस्था के भूत होते हैं उनके सतोगुण अंश से एक एक ज्ञान इंद्रिया बनती है अपंचीकृत अवस्था के भूतों से और रजोगुण अंश से एक एक कर्म इंद्रिया बनती है और जो समष्टि शतोगुण अंश से अंतकरण बनता है अपंचीकृत अवस्था के भूतों के और समष्टि रजोगुण अंश से प्राण बनता है ये स्थिति कर्मेंद्रिय एक एक अंश से समष्टि से प्राण है और सतोगुण के एक एक अंश से एक एक इंद्रिया बनी हुई ज्ञान इंद्रिया बनी हुई है और सम्मिलित अंश से अंतकरण बना हुआ है भी स्थिति ऐसी है फिर यहां पर पंचीकरण के बाद में शरीर हुआ शरीर के बाद में फिर बिरागर के शरीर शरीर के बाद में फिर गोलक गोले के बाद इंद्रिया ये कहां से आ गई तो पंचीकरण के बाद की चर्चा हो रही है ये तो पहले उत्पन्न होना चाहिए ये शंका कर रहे हैं यद्यपि बाघादि कर्म जातम यद्यपि बाघादि इंद्रिया जो है ना अपंचीकृत भूत कार्य अपंचीकृत भूतों का कार्य पंचीकृत भूतों का कार्य नहीं है ये अपंचीकृत अवस्था के हैं ऐसा होता है न मुखादि गोलक का कार्य मुखादि गोलक का कार्य ये नहीं गोलक बनने के बाद पैदा हुए तो मुखादि गोलक का कार्य तो है ही नहीं है मुखादि गोलक तो पंचीकृत भूतों का कार्य है तो मुखादि गोलक का कार्य तथापि मुखादि आश्रय आश्रय मुखादि होते हैं जब तक गोलक नहीं बनेंगे उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती इंद्रियों की कुर्सी होने पर ही ये बैठ पाते हैं नहीं तो काम नहीं कर सकते अभिव्यक्ति नहीं होती तथापि मुखादि आश्रय तद अभिव्यक्ति मुखादि जो आश्रय बन जाते हैं उनके रहने का स्थान होने पर उनकी अभिव्यक्ति होती है उन इंद्रियों की इसलिए मुख के बाद में इंद्रियों को कहा अभिव्यक्ति को लेकर यद्यपि उत्पत्ति पहले है उनकी किंतु मुख के बनने के बाद में इंद्रिय बने माने हमें अभिव्यक्ति तब होती है इंद्रियों की मुख बनेगा तब इंद्रिया बाद इंद्रिय तब पता लगता है पहले पता नहीं लगता यही कहा यद्यपि है तो अपंचीकृत अवस्था के हैं मुखादि तो पंचीकृत अवस्था के हैं पहले होना चाहिए पहले ही है किंतु अभिव्यक्ति बाद में होती है मुखादि बनने के बाद ही उनकी अभिव्यक्ति होती है इसलिए मुखादि उत्पत्ति के बाद इंद्रियों की उत्पत्ति बताई ये कहा नासिकाभ्याम प्राण इत्यत्र नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ में प्राण शब्द है ना प्राणवृत्ति हम घ्राण इंद्रिय उचित है या इंद्रिय लेना इंद्रिय का प्रकरण है नासिकाभ्य प्राण में तो क्या लेना है नासिकाभ्याम प्राण में प्राण वृत्ति सहित ध्यान इंद्रिय को लेना इंद्रिय भी तो पैदा होना है ना किंतु प्राण वहीं से चल नाशिका से चल रहा है प्राण वृत्ति वाला वायु के सहित ध्यान को लेना ये कहा अधिष्ठानम शब्द आया था सर्वत्र अधिष्ठानम कर्मम देवता च त्रयम कर्मण निर्भिन्नम या तीन तीन निकलना है विराट शरीर में क्या क्या निकलना है अधिष्ठान मान गोलक और कर्म इंद्रिया और उसके अधिशासित देवता प्रत्येक पर्याय में ये तीन दिन निकलना है गोलक इंद्रिया देवता ये कहा था अच्छा अधिष्ठान माने गोलकम इत्यर्थ अधिष्ठान शब्द का था गोलक समझना इंद्रियों को गोलक जैसे त्वक गोलकम त्वक इंद्र का गोलक ऐसा हो जाएगा पूरे शरीर है उसका तो लोम इति लोम सहचरितम परसेंद्रिय उच्चते हैं हाँ। यहां पर त्वक का विषय बता दिया लोमानी तो जो तो लोमानी बताया तो इंद्रिय पैदा हुआ तो, तो इंद्र का क्या हुआ लोम पैदा हो गया लोम माने पर्स इंद्रिय सहित तो लोम इंद्रिय को भी लेना है लोम तो उसका एक विशेष है तो इंद्र के ऊपर में लोम दिखाई पड़ते हैं तो त्विंद्र तो इंद्र सहित लोम को लेना पर्स इंद्रिय सहित लेना ये बोला पर्सन इंद्रियम इत्युच्यते लोम इति लोम सहित सहचरितम पर्सन इंद्रियम त्वक माने तो चमड़ी है और उसमें पर्सन इंद्रिय है ये कहा या लोम शब्द से पर्सन इंद्रिय को भी लेना है पर्स करने वाली जो इंद्रिया आई होने वाली इंद्रिय उसको भी समझना होता है और लोम से हो गया वनस्पति औषधि वनस्पति कहा कहते हैं औषधि वनस्पति औषध्यादि अधिदेवता वायु उच्चते यहां औषधि वनस्पति का अर्थ औषधादि के अधिपति देवता अधिष्ठात्री देवता वायु को लिया जाता है क्यों तो देवी तो देवता वायु है उसका अधिष्ठात्र अधिष्ठात्री देवता को लेना होगा चित्तम तो चेतो हृदय ऐसा कहीं कहा है माने चित्त शब्द से कहा जाता है चेत शब्द से कहा जाता है हृदय शब्द से भी कहा जाता है अमरकोश कार ने ऐसा कहा चित्तम तू चेतो हृदय ऐसा अमरकोश का वाक्य है चित्त बोलते हैं चेतस बोलते हैं हृदय भी बोलते हैं मन का नाम ऐसा भी ऐसा कहा और भी कहा यहां हृदय च अहृदयज्ञम च जानाति इत्यादि वाक्य आता है हृदय को जानता है अहृदय को जानता है ऐसा है उपनिषद में भी इत्यादि तो हृदय शब्द से अंतकरण तत्व वहां मन को जानता है बिना मन को भी जानता है कहने के लिए वहां हृदय शब्द अंतकरण का बात है वो तो यहां पर हृदय का अर्थ क्या लेंगे तो अमर को स्टार ने तो चित्तम तु तो चेतो हृदय में वो मन के पर्याय वाचक में लिया मन को कहा हृदय शब्द से अमर कोशकार ने हृदय शब्द से और उपनिषद में भी हृदय हृदय अहृदय इत्यादि शब्द आया वहां भी मन को ही लिया है वो हृदय शब्द से यहां क्या लेंगे हृदय शब्द से तब कहते हैं चित्तम तू चेतो हृदय और हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च इत्यादि हृदय शब्द से अंतकरणार्थत्व दर्शनार्थ वहां अंतकरण के अर्थ में हृदय शब्द का प्रयोग है उन स्थानों में अमरकोश में भी उन उपनिषदों में इसलिए मन शब्द देना भी तस्से भी अभिधान है पवन रूप या मन शब्द से भी उसी को लेना हो तो हृदय हृदयात मन बोला हुआ है पहले भी हृदय बोल दिया फिर मन बोलना हो तो पुनरुक्ति होगी इसलिए यहाँ हृदय का अर्थ मांस पिंड लेना बोलते हैं यहां पर ऐतरुपनिषद शब्द नहीं तो पुनरुक्ति होगी अन्यत्र तो हृदय माने मन ही कहा हुआ है या हृदय शब्द पे आया मन शब्द आया हृदय निर्वेद्यता और हृदयात मन हृदय से मन उत्पन्न हुआ बोलते हैं तो मन भी मन और हृदय भी मन हो तो पुनरुक्ति होगी इसलिए अर्थभेद करना पड़ेगा हृदय का मन का यहां पर यह कहा कैसे बताने परिवर्तन इतना हृदय का अर्थ किया हृदय माने अंतकरण अधिष्ठानम जो मन का अधिष्ठान आश्रय है जहां मन का रहेगा अंतकरण का अधिष्ठान जो मांग पिंड हृदय शब्द का था ये लेना है ऐतरोपनिषद ये कहा हृदय माने अंतकरण अधिष्ठानम ऐसा कहा था पौनरुक्तम के ऊपर कहा पद समानाधिकरण अभाव असंभव इति उत्तम भवती कहते हैं यहां पर पुनरुक्त न बोल करके असंभव कहने में अर्थ अच्छा होता था पद समानाधिकरण होने के कारण समानाधिकरण हृदय मन ऐसा कहा नहीं है मन बोला हुआ है पंचमी और प्रथमांत है तो समानाधिकरण भी नहीं वहां पर पर्याय वाचक होता तो समानाधिकरण घटा से बोलते हैं क्या बोलते हैं तो समानाधिकरण में प्रथमा प्रथमा विभक्ति होती है क्या एक पंचमंत्र है हृदयात मन बोला हुआ है तो पद समानाधिकरण तो है ही नहीं मंत्र में इसलिए टिप्पणी कार कहते हैं यहां पर पुनरुक्ति की संभावना तो नहीं है असंभव कहना चाहिए अगर पुनरुक्ति करना होता तो समान विभक्ति प्रयोग करते मंत्र में समान विभक्ति नहीं है हृदयात मन बोला हुआ है पद समान समानाधिकरण अभाव असंभव उत्तम असंभव कहना चाहिए था यहाँ हृदय शब्द का अर्थ मन करना संभव नहीं क्या हृदय से मन पैदा हुआ आया मन अतिरिक्त आया हुआ इसलिए मन करना संभव नहीं इसलिए हृदय का अर्थ मांग से पिघल लेना यह अर्थ करना युक्त होगा ये टिप्पणी कारण बताया अच्छा टीका में कहते हैं अंतकरणाधिष्ठान हृदय कमलम इत्यर्थ यहां पर हृदय शब्द का अर्थ अंतकरण का जो अधिष्ठान है आश्रय है हृदय कमल जिसको बोलते हैं वो यहाँ हृदय शब्द का अर्थ है मांसपिंड है हृदय शब्द का अर्थ शब्द यद्यपि अन्यत्र हृदय शब्द का अर्थ मन कहा कई जगह में अमर का आदमी भी कहा मन और अन्य उपनिषद में हृदय हृदय इत्यादि में हृदय का अर्थ मन ही लिया हुआ है किंतु यहां पर हृदयात मन जो आया हुआ है तो हृदय और मन दो शब्द आया इसलिए क्या करना होगा हृदय माने मांसपिंड मन माने अंतकरण ये लेना होगा ये कहा था नाभि माने सर्व प्राण बंधन स्थानम ये बोला था सारे प्राणों के केंद्र है वो बंधन स्थान है प्राणवायु वही नाभि से ऊपर तक आता है वही नाभि तक नीचे जाते इसमें अपान हो जाता है सारे वायु जितने भी है नाभि में ही केंद्रित होते हैं जब हमको कोई वजन उठाना होगा उस समय हमको ज्ञान वायु का काम करना पड़ता है प्राण अपान को रोकना होता है दोनों रोकेंगे तब तो भोजन उठा पाएंगे न तो श्वास खींचते समय हम काम कर पाएंगे न श्वास लेते समय छोड़ते समय में खींचते समय नहीं होता दोनों को रोकना पड़ता है जो जबरन बलबत काम करना हो उस काल में दोनों रोकना माने नाभि में केंद्रित होंगे वो और खाया हुआ अन्ना आदि को जो सामान पहुंचाना पूरे देश में घुमाने का काम करे सामान भेजने वाला नाभि में बैठ करके समान वायु नाभि का केंद्र है वो नसों का केंद्र है वहां से सारे शरीर में खाया हुआ अन्न का वितरण रस का वितरण करता है वो भी नाभि नहीं है ज्ञान वायु सर्व शरीर में होने पर भी नाभि से ही निकला हुआ है वो प्राणों का केंद्र है वो कहा था यही मतलब कहा था सर्व प्राण बंधन स्थानम बोला था उसका अर्थ करते हैं मैंने क्या होता है वो क्या गुद बोलम इत्यादि गुदा का मूल भाग होता है मूलाधार जिसको बोलते हैं वही है बंधन स्थान अपान शब्द ना वायु इंद्र लक्षण आया संबंध महा अपान शब्द कहा है वायु का नाम है किंतु इंद्रिय घोषित कर दिया नाभि से अपान पैदा हुआ ना या ये ये घोषित कर दिया बुधा वायु इंद्र को लक्षण करने के कारण बताते हैं अपान कहा अपान संयुक्तवाद अपान इति वायु इंद्रिय मिल उच्चते अपान शब्द के द्वारा अपान के साथ उनका संबंध है इसलिए अपान वायु के साथ संबंध होने से अपान शब्द से यहाँ वायु इंद्रिय को लेना क्योंकि इंद्रिय का प्रस्ताव है यहाँ तो गोलक इंद्रिय देवता ये तीन निकालना है इसे अपान का अर्थ वायु इंद्रिय लेना है कहा उसके अधिष्ठात्री देवता मृत्यु है बता दिया ठीक है हम कहते हैं नम सिस्टम निर्भेद्यता इति पर्याय जो सिस्टम निर्भेद्यता ये पर्याय इसमें शिष्ण रेतस उत्पत्त हो शिष्ण रेतस रेतसा उत्पत्ति अभिधान है स्त्रीयोन्यादेर उत्पत्ति अंत सियाद इतिहास शिष्ण माने पुरुष के इंद्रिय के लिए प्रयोग होता है शिष्ण शब्द का तो शिष्ण से रेत कहेंगे तो रेत भी कोई शिष्ट पुरुष के साथ ही संबंध है स्त्री योनि आदि आएंगे नहीं स्थिति में शिष्ण का अर्थ करने पर यह शंका उठा रहे उठा रहे शिष्टम निर्विद्यता कहा हुआ है तो स्थिति में उसके पर्याय में शिष्ण रेत असोर उत्पत्ति शिष्ण और रेत की उत्पत्ति में दोनों पुरुष संबंधी है ये उत्पत्ति कहने पर अभिलाने कथन करने पर स्त्री योनि उत्पत्ति अनुक्ता स्त्री की योनि भी नहीं रज की उत्पत्ति भी नहीं हुई स्थिति में ऐसी शंका आई तो उसका उत्तर कर, उत्तर देते हैं शिष्ण शब्द ना उपस्थ इंद्रिय स्थान में लक्ष्य शिष्ण शब्द के द्वारा उपस्थ इंद्रिय का स्थान जहां उपस्थ इंद्रिय काम करे रहे वो स्थान को बताया जाता है शिष्ण शब्द जो पुरुष में भी स्त्री में भी है ये बता दिया रेत इति और रेत शब्द से क्या लेना है तद विषयार्थत्व नाम तो इसलिए क्या होगा वो इंद्रिय में जो विसर्ग करना है स्त्री शरीर में भी है फेंकना पुरुष शरीर में भी वहां रथ फेंकेगा इंद्रिय रेत फेंकेगा तद विस्कार हम उपस्था इंद्रिय अपशब्द देना वो जो विसर्ग रेत आदि के सहित उपस्थित इंद्रियों को यहां पर अपशब्द से लेना है लक्षित तल लक्षित पंचभूत उपाधि का प्रजापति और उसके द्वारा लक्षित होता है उपाधि जो उस वो उपाधि वाला जो कौन प्रजापति उसका देवता है वो भी लक्षित होता है इसलिए कहा यथा इत्यादि बोला था यथा अन्यत्र तथा जैसे अन्यत्र कल्पना आपने की है गोलक इंद्रिय देवता यहां सिस्टम में भी ऐसे करना है गोलक लेना और इंद्रिय लेना देवता लेना यथा अन्यत्र तथा सिस्टम निर्मित तो उसी प्रकार इत्यादि प्रजनन इंद्रिय स्थानम इंद्रियम प्रजनन इंद्रिय का जो स्थान है हाँ, वो मानी यह है आपका शिष्ण का अर्थ और इंद्रिय हो जाएगा वही और उसमें रेप विसर्ग करने का हो जाएगा तथा टीका कहते हैं यथा अन्यत्र पर्यांतर स्थानम करण देवता का त्रय भूतम जैसे अन्यत्र में तीन तीन बताया था माने स्थान करण देवता तीन बताया था ठीक इसी प्रकार यह भी जो शिष्ण वाले पद में पर्याय में भी शिष्णादि शब्द एक त्रय मधुचते ये तीनों को कहा जाता है रेता ही इंद्रिय उच्चते रेत शब्द का था तो इंद्रिय कहा माने शिष्ण शब्द के द्वारा उपस्थ इंद्रिय रहने का स्थान और रेत शब्द है इंद्रिय और रेत सा आप अर्थ प्रजापति देवता ये लेना है ये बता तल लक्षण सामना सह रेतसा इत्यादि कहा था क्यों सह रेतसा उचित रेत के सहित वो होता है वो कहा जाता है रेतसा सहितम तत्संबद्धम इत्यर्थ रेत के सहित होता है वो इंद्रिय इसलिए उसको कहा संबंध बोला है रेतो विसर्ग अर्थात इंद्रिय रेत के विसर्ग विसर्जित करने वाली है एक कहा इस तरह से हो गया आगे फिर करने समय हो गया है ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में प्रतिष्ठित आदिरावीर्भयेदी वेदश्यमाणस्थ श्रुतम वे गमेना ऋतम गहिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्